बेशक उसका जोर तो सिर्फ उन्हीं लोगों पर चलता है जो उसे अपना दोस्त बनाते हैं और जो उसके वसवसे की वजह से शिरक करते हैं